इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो जबकि मुझे बुढ़ापा आ पहुंचा है तो तुम किस चीज की खुशखबरी देते हो